और एक और देखें जब युद्ध होता है और युद्ध का वर्णन किया जाता है तो अपनी साहित्यिक भाषा में भाषा को बदलना पड़ता है युद्ध की भाषा दूसरी युद्ध का वर्णन करने की भाषा दूसरी हाँ? भगवान राम का विवाह हो रहा है तो वहाँ का जब वर्णन पढ़ो तो उसकी भाषा दूसरी और यहाँ जहाँ से युद्ध हो रहा है उसका वर्णन पढ़ो तो भाषा दूसरी भाषा दूसरी के माने आप देखेंगे डाठा डाठा ना ये जो पांच वर्ग है ये है ये युद्ध के लिए अलग से है कतार वाला जितना है इसमें ही शब्द जहाँ तक घोड़े मिलेंगे तहाँ तक टाठा डाठा का प्रयोग किया जाए ये कर्कस पर है टाठा डाठा तो युद्ध भी बड़ा कर्कस कार्य है तो उसके लिए शब्द भी कर्कश बोलना चाहिए <clears throat> तो आप देखो कि देखने जाए कटने के ठट्टा का भी आ गया खा भी आ गया और टाटा डबल डबल आ गया जहाँ तक घोड़े मिला वहाँ तक इस प्रकार से करे अत विशाल कनु भाल सुभट्टा इसी प्रकार के ये सबके सबके देखा कि बानरों के शरीर बड़े बड़े विशाल बानर है इनके इन्होंने अभी तक जितने बानर देखे थे छोटे छोटे मानव देखे थे निशाचरों ने अब आप देखा ये बानर दिखाई दे जितने बड़े निशाचर उनसे भी बड़े बड़े बानर अपने शरीर से भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं उनको विशाल शरीर वाले बारह उनको दिखाई दे रहे हैं और भालू सुभट्टा भट्टा और बांदर भालू सब ऐसे ही और सुभट्ट है भट्ट के माने वीर है और सुभट्टा वाले बड़े वीर है अब उनको सुभट शब्द है वो भट्ट के माने वीर है और सुभट के माने बहुत वीर है लेकिन सुभट्टा कैसे हो गया ये ये ताकत बनाया गया बना करके उसकी ध्वनि इस प्रकार की बनाई गई जिससे कि उसको पढ़ने से ऐसा लगे कि भाव कर्कशता का भाव उत्पन्न हो युद्ध का भाव उत्पन्न हो इस प्रकार तो धाव न अवघट खाता अब वे वे सब दौड़ रहे हैं वो देखते ऊपर से निशाचर लोग कि बानर लोग क्या कर रहे हैं धा, धाव ही ये सब लोग बानर लोग खूब दौड़ लगाए थे और कहीं ना अवघट खाता ये कहीं नाला है नीचा है कि कहीं पर्वत ऊंचा है तो ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखते उनको कहीं दौड़ने में कहीं कोई उनको वो नहीं है ऊंच नीच को देखने के लिए सब दौड़ लगाए हुए हैं कुछ लाइन लगाए हुए हैं इस प्रकार से अब गट में भी देखो क्या है घाटा में भी क्या होगी और पर्वत खोरी करेंगे बाटा टाटा टाटा सब जगह दिखाई देगा और सब जगह जब तक युद्ध चलेगा तब तक तुलसीदास जी की भाषा इसी प्रकार की जबान चलेगी कहते पर्वत खोरी अब ये लोग जब मानव लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में अगर मान गए टीला पड़ गया पर्वत पड़ गया तो ऐसा नहीं करते हैं कि वो इधर से घूम करके उधर से निकले उधर से घूम के इधर से निकले ऐसे मानव लोग नहीं करते बाकी जितने ज्यादा मानव है कि जिधर पर्वत नहीं पड़ रहा वो तो उधर से निकल जाएंगे और अगर ये बारह चक्कर काट करके उन्हीं की तरफ से जाने लगेंगे तो उधर से मानव की इतनी भीड़ हो जाएगी निकलने का रास्ता नहीं होगा तो मानव लोगों के सामने अगर कोई पहाड़ टीला पड़ गया तो उसी को फोड़ करके रास्ता बना लेते हैं और आगे पर्वत भी उनके रास्ता नहीं रोक सकता पर्वत खोरी करें कभी बाटा रास्ता पकड़ एक अर्थ इसका ये भी है कि इन लोगों ने बानरों देखा तो निशाचर लोग तो सब तमूरों तो में चले हुए हैं अब तमूरों तो तक ऊपर तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाना चाहिए तो इन्होंने लेकर के पर्वत ले लेकर के उसके जो दीवार थी किले की उस दीवार के पास जो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया तो वो पेड़ दीवार की तरफ लग करके ढाल बनने लगा अब जैसे ढाल बनने लगा तो उन्होंने रास्ता बना दिया कंगूरों के ऊपर चढ़ने के वो इतना ऊंची दीवार कि नीचे से माना छलांग लगाओ तो ऊपर तक न पहुंचे तो जब ढाल बन गया तो एक बार दो बार तीन बार उसके ऊपर पत्थरों को तरह रखते हुए कंगूरों के ऊपर तक पहुंच जाए ऐसे करके उन्होंने रास्ता बना दिया उनके ऊपर चढ़ने के लिए कटकटाई कोटे न भट करने अब देखो इसमें अब ये भी टाक फिर इसमें कटकटाई अब ये दांत पीसते हैं सबके सब बानर लोग टिकराते हैं और कोटिन भट कर गए अब वो शब्द भी कोटिन शब्द ऐसा प्रयोग किया उसमें भी कहा गया है और फट भी तो ये सब के सब इस प्रकार से ये सब योद्धा लोग ये गर्जना कर रहे हैं दांत पीस रहे हैं दसन ओट का कहीं अत कर गए ये बानर लग टिकरा रहे हैं मतलब अपने ओठों से दांत में काटते हैं और अति करके गए मैंने गए चटकते हैं मतलब बहुत झाल लगाते हैं बड़े ऊंचे चटकते हैं और उत रावण उत राम दुहाई और दूसरी तरफ शोर हो ही रहा है उधर रावण जो है राम राम रावण की दुहाई के मैंने रावण की जय जयकार हो रही और इधर राम दुहाई इधर बारह लोग जो है भगवान राम की जय जयकार बोल रहे हैं जय जय जय इधर आई दोनों तरफ जय जयकार होती है तो जय जयकार होने पर लोगों में सैनिकों में उत्साह आता है और मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं खतरा भी मोल लेने में तैयार हो जाते हैं तो ऐसे करके उनमें वीरता जागृत होती है इसलिए जय जयकार रहे हैं तो निस्तर शिखर समूह धाम ही हम्म। अब निशात्रों ने क्या किया अभी तक तो इतनी बात हुई अब निशात्रों ने उनके पास जो पत्थर थे उन्होंने बानरों के ऊपर फेंकने शुरू किए ऊपर से निश्चय शिखर समूह धाम शिखर समूह के माने पर्वत पत्थर ले लेकर फेंक रहे बानर बानर क्या करते हैं कि कूद धरे कपी बानर लोग कूद करके उछल करके उन बानरों को हाथ में गुपक लेते जैसे गेंद आ रही हो जैसे बानर लोग उन पत्थरों को गेंद की तरह से हाथ में ले लेते कूद धरे कपी और फेरी में और उसके बाद उन्हीं पत्थरों को फिर फेंक देते उन्हीं निशाचरों के ऊपर तो उन पत्थरों के निशाचरों के फेंके हुए पत्थरों से ये बानर आहत नहीं होते बल्कि इनको अस्त्र हाँ, फिर मिल गया उन्हीं का फेंका हुआ मिल गया इन्होंने उठाया लेकर के उसी ऊपर आक्रमण कर लिया ऐसे कभी करते हैं कभी कभी कोई जैसे दो आदमियों में युद्ध हो रहा है एक व्यक्ति बाद लाठी डंडा कुछ है तो उसने फेंक करके दूसरे को मारा तो जिसको मारा उसने उसको गुपक लिया अपने आप को बचा लिया जमीन में गिराया हाथ उठा लिया और उसी को लेकर के फिर जिसने फेंका तो उसके ऊपर आक्रमण कर लिया उसको मार दिया <clears throat> ये युक्ति प्रयोग में आती जिनके पास अस्त्र नहीं है वो इस प्रकार से करते हैं तो ऐसे ही <clears throat> निश्चर शिखर समूह धाम और कूद धरे कभी फेरी चलाम फिर उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं इस तरह से पत्थर फेंकने का युद्ध दोनों तरफ से शुरू हो गया शासनों की तरफ से भी बानवों की तरफ अब आगे कहते हैं कि धरी पुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर धार धार <clears throat> अब देखो वही शब्दावली काठा दादा वाली सब धरी पुधर कुदरबंद पत्थर वो जो है ले लेकर के खंड प्रचंड पत्थरों के खंड ले लेकर के पर्वतों के खंड लेकर के मरकट बानर लोग और भालो गढ़ पर जा रहे हैं चरकिले के ऊपर ये सब लोग डूब रहे हैं तो ये आक्रमण बानरों का हुआ और ही शरण गई पटक मई भरी चले बहुर बचा रही और ये बानर लोग कोई कोई चढ़ करके कंगूरे के पास तक पहुंच जाते हैं तो बानर तो उनके लोग तो ऊपर खड़े हुए हैं तो उनके नीचे पैर हैं तो पैर ही हाथ में आ जाते हैं किसी बारन के तो क्या करता है झपट इस कारण गई तो झपट करके बारह वहां तक जाते हैं उनके पैर हाथ करके पकड़ लेते हैं और पटक मही और उनको खा करके पृथ्वी पर पटक देते और भल चलत बहुर पचा रही और वे निशाचर लोग गिर करके मरते नहीं है और उसके अंदर बात करते हैं हम्म, तो ये बानर लोग फिर उनको ललकारते हैं कि कहाँ भागा जा रहा है आओ युद्ध तो अति तरल करुण प्रताप कर पही अब ये बानर लोग जो है कहते हैं अति तरल तरल के माने बड़े फुर्तीले हैं फुर्तीले के लिए तरल शब्द अति तरल ये बानर लोग बड़े फुर्तीले और तरुण प्रताप और ये तरुण भी है मैंने युवा है सबके साथ और प्रताप माने भगवान श्री राम जी के प्रताप से बड़े तेजस्वी हो रहे हैं तर्पण ही तर्पण से देखते हैं और तमक गड़े चढ़े चढ़े गए समकमन बच्चे से खिटक करके छलांग लगा लगा करके किले के ऊपर जा पहुंचे तो अपने साथ जहाँ किले के ऊपर चढ़े हुए थे वो पत्थर जरूर फेंक रहे थे लेकिन कुछ बानर तो उन पत्थरों को ले लेकर के उन्हीं के ऊपर फेंकने लगे कुछ बानर लोग चले और निशाचरों के पैर पा गए तो उन्हीं को पटक दिया और फिर कुछ बानर लोग किले के ऊपर जाकर के स्वयं चढ़ गए तो बानर लोगों ने किले के ऊपर तक पहुंचने का रास्ता बना दिया तो कपिभाल करी मंदर ने जहाँ था राम जैसे गावत भय तो बानर और भालो करे मंदिर में मैंने किले के भीतर तो फिर बहुत से महल बने हुए हैं तो सब महलों के ऊपर भी किले के भीतर घुस गए तो सब जितनी छते हैं छतों छतों के ऊपर ये बानर लोग कूदने लगे मंदिर के तो बने भवन जितने किले के भीतर जितने भवन बने हैं उनके ऊपर ये बानर लोग छतों पर कूद रहे हैं जहाँ तहाँ राम जैसे दावत भय और ये बारह लोग जहाँ जिस छत के ऊपर पहुँच जाते हैं वहाँ भगवान श्री राम जी की जय जयकार बोलते जाते हैं कहते हैं कौशला भी भगवान राम की जय प्रदूषण को मारने वाले भगवान श्री राम की जय किस प्रकार से बोलते जाते हैं वो वो ऐसे भगवान की जय जयकार यश बोलते हैं जिससे कि निशाचरों को भय उत्पन्न हो याद आवे करे ये तो वही लोग आ गए हैं जो प्रदूषण को मारने वाले ऐसी जय जयकार करते हुए वहाँ बोल रहे हैं इसलिए कहते हैं यश गाँव भगवान का यश निशाचरों का बध करना ही भगवान का यश तो निशाचरों की शत्रुता भगवान राम के तो उसका वर्णन करते हैं एक एक निश्चर गही पुनि कपी चले पराय अब क्या किया कि एक एक निश्चर गही एक एक अब बानरों ने क्या किया एक एक बानर ने एक निशाचर को पकड़ा और हम्म। पुनि कपी चले पराये उस निशाचर को लेकर के वो बानर दौड़े भागे और क्या किया ऊपर आप एक घट गिरंग धरण पर आए और वे बानर लोग निशाचर को लेकर के किले की दीवार पर से नीचे कूद पड़ते तो कैसे कूदते हैं ऊपर आप जब दो कूदते हैं तो दोनों को पकड़े हुए एक बानर जो है निशाचर को पकड़े हुए और वो जब नीचे गिरता है तो निशाचर को रखता है नीचे जमीन की तरफ और उसके ऊपर अपने आप को रहता है तो जब निशाचर के ऊपर बानर कूदता है तो बानर को चोट तो लगती नहीं लेकिन निशाचर की खोपड़ी पटती नीचे जमीन में उसका चोट लगती है उसकी इस प्रकार जैसे तो ऊपर आप और हेठ भट यहाँ भट के माने निशाचर भट और हेठ के माने नीचे हम्म? जो एक होता है श्रेष्ठ दूसरा होता है हेठ एक के माने कमजोर या नीचे का तो इसलिए कहते हैं कि ऊपर आप हेठ भट और गिरे धर्म पर आए इस प्रकार वो पानर लोग निशाचरों को लेकर के जमीन पर आ जाते ये युद्ध इस प्रकार से अब ये पहले युद्ध का पहले दिन के युद्ध का वर्णन है इस प्रकार से दोनों तरफ युद्ध का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ किले के ऊपर निशाचर लोग चढ़ गए बानर लोग नीचे हैं इन बानर लोगों ने पहले तो पत्थर फेंके गए इधर उधर से दोनों तरफ से और फिर उसी बीच में बानरों ने और रिक्षों ने ये सब कंगूरों के ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता बना लिया कूट करके ऊपर चढ़ भी गए निशाचरों को भी पकड़ा ले ले करके उनको फेंका भी पैर ले लेकर करके भी उनको पटका इस प्रकार से होता जाता है अभी थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कहीं तो ऐसा लगता है कि ये पानर लोग बड़े शक्तिशाली निशाचर कमजोर पड़ रहे हैं अभी ऐसा वर्णन में मालूम पड़ता है कि निशाचर लोग कमजोर हैं और ये पानर लोग शक्तिशाली ही उनको मार रहे हैं पहला आक्रमण जो है पानरों को हुआ बड़े उत्साह के साथ हुआ और बड़े बली दिखाई दिए लेकिन आगे कर करके देखेंगे कि निशाचरों ने भी अपनी शक्ति पर दिखाई हाँ? और बानर लोग फिर भागने लगे ऐसी बात आए उसका भी वर्णन आएगा आगे <clears throat> आगे देखिए क्या होता है कि राम प्रताप प्रबल कपिजूठा मरद निश्चर सुबट बरूधा चढ़े दुर्ग पुण्य जाता बानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर चले निशाचर निकर पराई प्रबल पवन जिम धन समुदायी हाहाकार भयो पुर भारी रो वही बालक आतुर नारी सब मिल दे रावण गारी राज करते ये हकारी निज जल बिकल सुनी कई काना तेरे सुभट लंकेश रिसाना चोरण विमुख सुना मैं काना तो मैं हतव कराल कृपाणा शरबत खाए भोग कर नाना समर भूम भय बल्लभ प्राणा उग्र वचन सुन सकल तिरानी चले क्रोध कर सुबट ल जाने तन मुख मरण वीर शोभा तब तिन तजा प्राण कर लोभा बहु आयुध धर सुभत सब फिर पचारी पचारी फिर पचारी पचार व्याकुल किए भालू कपी परिगित सूलन मारे नंदमा राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय अभी जैसे युद्ध का वर्णन है इसको जैसे शब्द वर्णन होता है उसी प्रकार से हृदय में इसको देखना चाहिए अपने हृदय में इसका चित्रण आ मैंने उसकी इमेजिन करें कल्पना करें उसी प्रकार से कि लंका भी है किला भी है किले में रावण है निशाचर है कंगूरों पर चढ़े हैं किले के चारों तरफ पानर है ये सब इनको भुलाए नहीं याद रखें कि पोजीशन इस प्रकार की है और युद्ध हो रहा है तो इस प्रकार से जो एक प्रकार से मन में इनका विचार करने का जो विचार करते हैं तो एक आंतरिक चिंतन का की शक्ति जागृत होती है ये भी साधना का एक अंग है वैसे तो व्यक्तियों को पता नहीं कि ऐसा क्यों क्यों सुने कथा क्यों मन में इस प्रकार के विचार करें तो ऐसे नहीं कि कथा सुनी तो काम तक आई और लौट गई और हृदय में जाकर उसका चित्र अगर नहीं बनता है तो कथा सुनी नहीं बेकार हो उसका उद्देश्य ये है कि हृदय में जाकर के वैसा ही स्मरण बने वैसी भावना बने और जब वैसी भावना बने तो वो आगे चल करके साधना में कल्याणकारी हो लाभदायी हो जब कोई ध्यान वगैरह करेगा आंतरिक साधना करेगा हृदय में परमात्मा को खोजेगा तो उसमें उसको एक शक्ति शरीर जागृत हो जाएगी तो फिर उसको सफलता उसे मिलेगी <clears throat> नहीं तो फिर कठिन आगे की उच्च स्तर की जो साधना है हर व्यक्ति से बनती नहीं है उसके लिए ये सब युद्ध ऐसा ना कि युद्ध हो रहा बेकार का हमें क्या करना हुआ होगा युद्ध तो हुआ होगा लड़े होंगे तो लड़े होंगे चाहे हम कुछ क्या हो चाहे उसने पत्थर फेंके हो चाहे बाला फेंका हो जो हम किया हो तुम किया होगा अपने उधर की तरफ विचार नहीं करते तो ये यह है शास्त्र के क्या जो प्रयोजन है वो सफल नहीं होता सुन करके भी जो उसका लाभ होना चाहिए आध्यात्मिक विकास होना चाहिए वो नहीं होता इसलिए सुने और सुन करके याद भी रखें चित्र में धारण करें उसको तो राम प्रताप प्रबल कपि जूठा अब देखो कि यह भगवान की कृपा से भगवान की शक्ति है जब इनमें बानरों में भालुओं में काम कर रही है इसके कारण ये बड़े शक्तिशाली है उनकी शक्ति से और मरते ही निश्चर सुबट बरू था ये बानर लोग जो वो निशाचरों को पकड़ पकड़ के रगड़ देते हैं मरते ही माने जैसे निशाचर उनको पकड़ा और पकड़ के अपने शरीर में ये जमीन में रगड़ दिया उनको रगड़ दिया तो मर गए वो सब उनके जो टुकड़े टुकड़े हो गए घिर गए प्रकार जैसे कोई मच्छर के शरीर में बैठ जाए और मच्छर उसको कैसे हाथ से मार दे कैसे हाथ कर दे हाँ, तो मच्छर अपने मर गया उसको तो फेंक दिया उसको ऐसे करके ये सब लोग निशाचरों को हाँ, रगड़ रगड़ के मार देते मर ही निश्चर सुबह बरूथा तो सुबह तो एक तो बड़े सैनिक निशाचर लोग बड़े शक्तिशाली वीर है और बरूथ के मैंने झुंड के झुंड है मतलब बड़ी सेना है उनकी इसलिए समूह के समूह है उन निशाचरों को ये हाँ, बारह लोग मार रहे हैं तो चढ़े दुर्ग पुन जहाँ तहाँ बानर अब कहते हैं ये बानर लोग किले के तो ऊपर पुन चढ़े पुन मन फिर से चढ़ गए मैंने पहले बताया है कि बानर लोग रीछ लोग ऊपर चढ़े थे और वहाँ एक एक निशाकर को लेकर के जमीन के नीचे गिरे थे आकर के और निशाकरों को मारा था आप अपने ऊपर हो गए थे तब तो ये सब बानर भी नीचे आ गए किले से तब तो नीचे वाले बानरों ने फिर एक बार छलांग लगा कर किले के ऊपर पहुँचने की व्यवस्था भी कर गए तो चढ़े दुर्ग पुन जहाँ तहाँ बानर और फिर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर और बस ये बार बार कहते जाते हैं भगवान श्री राम जी की जयकार बोलते जाते हैं जय रघुवीर प्रताप दिवाकर तेजस्वी सूर्य के समान महातेजस्वी भगवान श्री राम जी जय हो जय हो इस प्रकार से बोलते जाते हैं तो भगवान की जयकार बोलने से इनका उत्साह बढ़ता जाता है और भगवान का बल भी इनको प्राप्त होता जाता है इस प्रकार से बलिष्ठ होकर के लोग युद्ध कर रहे हैं चले निकाकर निकर आई तो बानरों ने जब इतना भयंकर युद्ध किया तो निशाचरों को क्या हुआ ये भाग खड़े हुए पढ़ाई मने भाग खड़े हुए इस निशाचर लोग मारे डर के जब भगे तो प्रबल पवन जिम कहने समुदाय निशाचर कैसे भाग रहे जैसे कि तेज हवा चले तो उस हवा में ये बादल बादल जो है वो उड़ जाते हैं जैसे हवा के झोंके में आंधी आ जाए तो बादल जैसे उड़ जाए ऐसे ही ये तो बानर तो हुए आंधी की तूफान की तरह से और निशाचर बादल की तरह सही बताया है कि जैसे मेरू पर्वत के ऊपर बादल घिरे हों इस प्रकार के निशाचर हैं तो निशाचर बादल की तरह से हैं तो इनको जब ये बादलों ने आक्रमण किया तो निशाचर लोग भाग खड़े हुए हाहाकार भय ऊपर भारी और निशाचर लोग भाग खड़े हुए तो फिर नगर भर में और हाहाकार मच गया ये हाहाकार मच गया निशाचर झल गए वो नगर भर की जो स्त्रियाँ बालक इत्यादि है तो वही बालक आतुर और नगर अब उस कितने नगर के पुरुष थे वो तो सब युद्ध के लिए गए हुए लड़ने के लिए सब किले में चढ़े हुए हैं अब नगर भर के जो है घरों में स्त्रियां बालक रह गए वे लोग जब देखते हैं कि सब निशाचर लोग डर के मारे भाग रहे हैं थक रहे हैं और ये जो हार रहे हैं तब उसके ऊपर ये सब की सब स्त्रियां रोने लगी बालक रोने लगी अपने पक्ष की हार सुन करके तो सब मिले दे ही रावण ही गारी तो सब मिलकर के स्त्रियां झुंड के झंडे खड़ते होती है रावण को गाली देती गाड़ी से मन उसकी निंदा करती है क्या क्या क्या कहती है कि राज्य करते मृत्यु हकारी कितना अच्छा राज्य कर रहा था किसने सुख वैभव भोग रहा था और कहा इसकी दुर्बुद्धि ने क्या कर दिया मृत्यु हकारी इसने आप ही आप अपनी मृत्यु बुला ली हकारना मारे बुला लेना मृत्यु को जो है वो घेर करके मृत्यु नहीं आ रही थी तो घेर करके मृत्यु मृत्यु को बुला लिया इसने और मरने की नौबत आ गई इसकी जब तो विनाश के लिए आ गई इस प्रकार कहते हैं सब दुर्बुद्धि का काम रावण ने किया उसकी निंदा करते हैं तो निज जल विपुल सुनी कई काना जब रावण ने सुना कई काना मैंने रावण ने तो कहते हैं निज दल विकल जब उसने सुना कि हमारी सेना तो विचलित हो गई विचलित हो मैंने युद्ध नहीं कर रही भाग खड़ी हुई है प्राण बचा करके जैसे उसने सुना तो फिर इस बटलंग के सरसाना तो रावण जो है वो उनके ऊपर सबके ऊपर बड़ा क्रोध उसने किया और सब बानरों को सब उसने निशाचरों को ललकारा और वापस बुलाया भागते हुए निशाचरों को रावण ने ललकार करके बुलाया कैसे रावण ने ललकारा अब वो बताते हैं रावण क्या कहता है उनसे कहते जो रहा थे मुझको सुना मैं काना मैंने अपने काम से ये सुना की जो युद्ध छोड़ करके भाग रहा है तो मैं हतब कराल कृपाणा हमारे पास देखो ये चंद्रहा तलवार है ये कराल ये किसी को हम छोड़ेंगे नहीं तुम युद्ध छोड़ करके भागोगे तो, तो हमारे यहाँ तो मारे जाओ हम्म? ये अब रावण का यही है रावण जो है वो हो जबरदस्ती करके जब इस प्रकार से करता है तो जैसे मारीच के पास जब रावण गया तो मारीच ने बहुत समझाया रावण को तो देखो ये सब मत करो तुम उनको सीताहरण के चक्कर में तुम मत पड़ो तब रावण कहने लगे कि अच्छा तो हमको सिखाने आया तुम <coughs> अगर तुम नहीं चलते हो वहाँ तो ये तलवार हमारी तो ये नहीं कि अच्छा तुम नहीं मानते तो रहने तो हमको दूसरा उपाय करें हाँ, ऐसे नहीं अगर तुम नहीं मानते हो तो ये तलवार हाँ, उसकी शक्ति के बल पर तर्क हो चाहे न हो चाहे सही हो चाहे गलत हो अपने शक्ति के बल पर मनवाता है ऐसे यहाँ पर छात्रों से अपनी तलवार दिखाता है चंद्रास और कहता है कि देखो ये हमारे पास ये तलवार तुम मारे जाओगे अगर भाग गए तो भी मारे जाओगे तब वो दिखाकर सोचते हैं जब मर नहीं है, हाँ, तब भाग करके क्यों मरे इसके तलवार से क्यों मरे चलो युद्ध करते हुए मरेंगे ये अच्छा है ऐसे सोच करके उनको थोड़ी समझ आती है रामा जी कहने रामा उनको स्वयं के ललकार <clears throat> करके उनकी जय निंदा भी करता है एक प्रकार गाली भी देता है कहता है कि सर्वत खाए भोग करना नाना तो देखो अभी तक तो यहाँ पर खूब पड़े पड़े खूब अपने दंड दटके लगाते थे और खूब खाते थे और खूब <clears throat> इस प्रकार से मौज मस्ती कर रहे थे और समर भूम भाई पल्लव प्राणा और इसीलिए तो तुम खा पी के तुमको पाला गया था कि तुम युद्ध आएगी तुम युद्ध करोगे और इस समय तुम्हें अपने प्राण प्यारे लगे और भाग करोगे तो इसके बारे जो कुछ तुम्हें खाया है अब तक उसका तुम्हें छुपाना पड़ेगा इसलिए ये कहते हैं कि तुमको मुफ्त थोड़ी चलाया चले इसीलिए युद्ध का समय आएगा तो तुम्हें मरना पड़ेगा अब प्राणों का मोह तुम मत देखो चलो युद्ध करो ये रावण के उग्र वचन थे उग्र वचन सुनो सकल डराने जैसे रावण के जब ये उग्र वचन सुने तो सब निशाकर लोग डर गए ये डर गए कि इसके माने हम हमारे प्राण बचेंगे नहीं भागने से भी हम बच नहीं सकते तो चले क्रोध कर सुबत ले जाने उसमें जो वीर लोग थे उनको लज्जा भी लगी कि देखो हम इतने वीर होकर के इतनी हमारे ये शीर्ष थी और इतने वीर माने जाते थे और हम भाग खड़े हुए थे ये बड़ी लज्जा की बात हुई और देख भी रहे लोग कि हम भागे जा रहे हैं तो वो वीर लोग फिर लौट आए और लौट करके फिर लड़ने को तैयार हो गए अब और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था रावण की ललकार की वजह से कोई सब उन्होंने भागना छोड़ करके बानवों से लड़ने के लिए फिर और चले क्रोध कर अब मैंने क्रोध के मैंने उत्साह है उन्होंने युद्ध का फिर उत्साह उनके अंदर जागृत हुआ और युद्ध करते हुए मरने के लिए तैयार हो गए ऐसे करके अब आए अब भागते नहीं तो सन्मुख मरण वीर कह शोभा अब वे आपस में कहते हैं कि हम लोग वीर हैं और आपस में सामने शत्रु के साथ में लड़ते लड़ते मर जाने में ही अपनी शोभा है भागने में शोभा नहीं ऐसे करके तो सर्मो का मरण मन शत्रु के सामने युद्ध करते हुए सामने मरण वीर के शोभा यही वीरता का चिन्ह है जो भाग गया वो का है लड़ता रहा बराबर भागा नहीं चाहे मर भले जाए तब वो वीर कहलाएगा तो ये बात कह करके वो लोग आपस में क्या करते हैं तब दिन तुझा प्राण कर लोभा तो इन्हें निशाचरों ने अपने प्राण का लोभ छोड़ दिया माने ये कि हम मरे चाहे अब जो कुछ युद्ध करना है ऐसा निश्चय करके युद्ध के लिए इस भूमि में फिर बानर के पास लौट करके आ गए अब बानरों अब इन शास्त्रों में शक्ति बढ़ी क्योंकि रावण उनको ललकार रहा आगने दे नहीं रहा और निशास्त्रों ने देखा कि बिना अब युद्ध की चाहे मरे चाहे दिए युद्ध करना ही पड़ेगा तो इन लोगों ने भी जहाँ तक इनका शक्ति बल थी अपनी पूरी शक्ति लगा करके निशाचर लोग बानरों से लड़ने लगे बहु आयुध धर कुधर सब और भिड़ ही पचार ही पचार ये निशाचर लोग पचार पचार में ललकार ललकार करके मानवों को ललकारते और बहु आयुध धर माने जो कि बहुत से आयु धारण किए हुए निशाचर लोगों के पास पहले के आ चुके हैं पाल परस्पर तलवार इत्यादि सब लिए हुए हैं ये सब निशाचर लोग अस्त्र शस्त्र लिए हुए बानरों के ऊपर आक्रमण करते हैं और बानरों को ललकारते हैं तो व्याकुल किए भालू कपी परित सूलन मारी तो वही त्रिशूल परिज ये सब जितने अस्त्र हैं इनको मार मार करके बांदरों को इन छात्रों ने व्याकुल कर दिया व्याकुल किए भालू कपे व्याकुल के बने अब बानर लोग जो है वो मार खा खा करके घायल हो करके कमजोर पड़ने लगे निशाकर प्रबल हो गए तब देखो अभी तो पहले पहले जब आक्रमण किया तो बानर लोग शक्तिशाली पड़ रहे थे अब रावण के ललकारने से निशाचर लोग शक्तिशाली हो गए और बानर लोग जो है घायल होने लगे कमजोर पड़ने लगे इस प्रकार से दोनों तरफ को युद्ध होता है बस यही कहने के साथ करिए कि अगर जब व्यक्ति साधना करता है तो अपने अंदर के जितने विकार हैं अब साधना आध्यात्मिक विकास के माने यही है कि अपने मन में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में अंताकरण में जो राग द्वेष काम क्रोध भय चिंता ये इस प्रकार के जो है वो हो नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं सब निशाचर हैं इनको समाप्त होना चाहिए इनके करने के लिए साधना करने वाला व्यक्ति साधना करता है तो उसमें भगवान का बल प्राप्त करके उसकी सात्विक वृत्तियाँ जागृत होती है और वो हो साधनों पर आक्रमण करती है तो कभी कभी तो ये सब अपने काम को उधार विकार करते दिखाई देते हैं और कभी कभी ये प्रबल हो जाते हैं और ये जो सात्विक वृत्तियाँ हैं वो वो दुर्बल पड़ने लगती है <clears throat> वैसे तो जो आध्यात्मिक साधना नहीं करने वाले हैं उन लोगों के उनमें तो कोई विरोधी उनका है ही नहीं उनके अंदर तो तमोगुणी रजोगुणी और आखिरी प्रवृत्ति उनके अंदर है और दैवी संपत्ति का कोई आक्रमण ही नहीं है उसका कोई उसके उनका उनके अंदर कोई प्रकार का प्रभाव ही नहीं है तो घोर तमोगुणी घोर रजोगुणी स्वभाव के व्यक्ति जो संसारी जीव धारण किए हुए वो अपने उसी प्रकार से उसी में निशाकरी प्रवृत्ति के साथ में वो जीवन जीते लेकिन जब वो साधना करते हैं माने भगवान का नाम जब कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं परमात्मा का ज्ञान तो इसके उनको बल प्राप्त होता है उनकी सात्विक वृत्तियों का और उनका प्रभाव पड़ता है अंताकरण की आश्री वृत्तियों के ऊपर आश्रित वृत्तियाँ धीरे धीरे करके कमजोर होती है लेकिन जिस समय साधना चल रही होती है तो कभी तो दिखाई देता है कि उनके भगवान जो पूजा पाठ सब जो कुछ किया है उसका बड़ा प्रभाव दिखाई देता है और ये काम क्रोध विकार उससे घटते दिखाई देते हैं और कभी कभी यही विकार बहुत बढ़ जाते हैं और बढ़ करके व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमारी सारी सारी साधना विकार इतनी पूजा पाठ की सब बिल्कुल बेकार दिखाई देते हैं हम जैसे जैसे कभी कभी कभी दिखाई देता है तो साधना काल की ये स्थिति है जो जिसका भी वर्णन कर रहे हैं आगे चलते चलते ये साधना पूरी होती है आगे चल करके देखेंगे जब लंका कांड पूरा होता है और रावण पराजित होता है तो रावण मोह है अहंकार है जब यही ग्रस्त हो जाते हैं साधना करते करते तब ये संपत्ति प्रबल होती है वही हृदय में छा जाती है उसी का शासन फिर हो जाता है तो हमेशा के लिए काम के समाप्त हो जाते हैं तो ये साधना काल में जो जय पराजय बराबर चलती रहती है उसी का वर्णन इस प्रकार रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं बदा च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम हरे राम जय राम जय जय राम हरे राम जय राम जय जय राम जय राम